षष्ठ मंत्र पूरा हो गया था सप्तम चले गया प्रायण ही एवं विध लोक कहा जिनको परलोक साधन मालूम नहीं होता है यही लोग इसे मानते हैं पुनः पुनः मेरे बस में अध्ययन में आकर के जन्म मरण संसार को प्राप्त करते हैं ऐसे ही प्राय अधिक लोग ऐसे ही होते हैं यस्तु श्रेयवर्थी स सहस्रसु कश्चिदेव आत्मविद तद विदो जो श्रेय और श्रेय चाहने वाला श्रेय प्रेय दोनों में से श्रेय चाहने वाला सहस्य सुख ही होता है मनुष्याण हम सहस्य सुख सिद्ध तति सिद्ध है भगवान ने कहा सहस्र सुख अच्छिदेव आत्मविधि होते हजारों में एक हजार में नहीं हजारों में हजार हजार में बहुत में कोई है, होता है तद्विध तुम्हारे जैसे क्यों इसके हेतु आगे मंत्र में श्रवणायापि बहुर्वीर्यो न लभ्यः शृणन्तोऽपि बहवो यं न विद्यो आश्चर्यवक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः श्रवणाय अपि बहुभिर्यो न लभ्य यह श्रवणाय अपि बहुभिर् न लभ्य श्रवण के लिए भी तुमने जो पूछा श्रवणापि श्रवण करने के लिए बहुत को प्राप्त नहीं होता है न लभ्य श्रवण करने पर भी सुनन तो भी भव यमन विद्यो पहले तो श्रवण के लिए भी प्राप्त नहीं होता है और श्रवण करने वाले भी बहुत जिसको नहीं जानते हैं आश्चर्य वक्ता वक्ता इसके आश्चर्य अनेक में कोई होता है निपुण कुशलों से लब्धा और उसको प्राप्त करने वाले कुशल कोई अधिकारी होता है सब लोग प्राप्त नहीं करते हैं कर पाते हैं आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्ट श्रवण से कुछ प्राप्त होने के बाद उसको ज्ञाता साक्षात्कार करने वाले आश्चर्य है अनेक में यतताम अपि सिद्धानम कश्चिन माम व्यक्ति कुशलानुशिष्ट कुशल है ना आचार्य ना अनुशिष्ट ज्ञान कभी किसको होगा तो ऐसे ज्ञानी के उपदेश से ज्ञान होगा और ऐसे ही बहुत में कोई होते हैं जो ज्ञान प्राप्त करते हैं ये अभी नहीं है ये अनादि काल से हमेशा इसी प्रकार है अरे वेद केवल सत्ययुग के लिए नहीं हमेशा एक ही वेद है कोई कोई बुद्धि लगाते पहले जैसे था अभी तो बदल गया अभी अलग है कुछ नहीं ये नित्य ही प्रतिकल्प में वेद ऐसे ही है प्रत्यय हमेशा ऐसा अभी जिस प्रकार पहले भी इस प्रकार अभी भी है ऐसा पहले भी है किसी किसी को ज्ञान होता है कोई ज्ञाता होते हैं जैसे पहले भी था अभी ऐसे ही है अभी ज्ञान किसको नहीं होता है बात नहीं पहले सब ज्ञानी हो जाते थे ऐसा नहीं शास्त्र ज्ञान हो जाना प्रवचन अध्यापन कर लेना विख्यात हो जाना धन इकट्ठी करना ये तो सब संभव है शास्त्र पांडित्य हां बहुत अभी अन्य अन्य पढ़ते हैं शास्त्र को केवल पढ़ने पर शास्त्र पांडित्य बहुत में हो जाता है अभी अन्य अन्य विषय में पढ़ते अन्य अन्य विषय में पढ़ करके भी बहुत विद्वान होते हैं सब अविद्या के अंतर्गत है पराविद्या तक ये ब्रह्म विद्या है जिस प्रकार पहले वेद अंग और अन्य सा बहुत है उपवेद अष्टादश पुराण ये बहुत ग्रंथ है अभी उसको जो नहीं पढ़ करें अन्य अन्य बहुत पढ़ते हैं इसी प्रकार वेद आदि जितने भी है सब अविद्या के अंतर्गत है ऋग्वेद सामवेद जितने सब आ गया तो पढ़ने वाले बहुत होते हैं बहुत पढ़ सकते हैं अभी शास्त्र में ज़्यादा नहीं पढ़ते पहले शास्त्र में पांडित्य बहुत में था वो बात अलग है शास्त्र ज्ञान होने वाले बहुत हो जाने पर भी श्रवण करने पर भी नहीं प्राप्त करते हैं कुछ विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले जैसे अन्य विषय पढ़ते इसको ये पढ़ करके भी पढ़ा देते हैं किंतु मनन करना निधिध्यास गणन करना साक्षात्कार करना बहुत विरल ही होते हैं जो अधिकार नहीं है शास्त्र श्रवण करके समझने के लिए तो कोई साधन चतुष्टय की आवश्यकता नहीं है नौकरी करके पढ़ाने के लिए पढ़ते हैं तो सब संभव है किंतु ज्ञानी कोई विरल होते हैं और नहीं होते बात नहीं क्योंकि ज्ञानी के उपदेश से उपदेश से ज्ञान होगा तो परंपरा रहती है तो इसे कोई आत्मवेदी कश्चित देव आत्मवेदी हुई कोई आत्मज्ञानी होता है तुम्हारे जैसे क्योंकि अस्मात् श्रवणायापि श्रवणाय अपि श्रवणार्थम श्रोतुमपि यो न लभ्य जो तुमने जिस विषय प्रश्न किया श्रवण करने के लिए प्राप्त नहीं होता है यह न लभ्य आत्मा बहु बहुत श्रवण के लिए प्राप्त नहीं होता है प्राप्त होने पर भी पाप होने से श्रवण नहीं कर पाते हैं प्राप्त कहीं हो तो भी श्रवण नहीं हो पाता है श्रेयांश बहु विघ्नानि ये श्रेय मार्ग में विघ्न बहुत ही है विघ्न इस प्रकार आते हैं विघ्न जैसे नहीं लगता है इसलिए जब पाप अधिकोद हो जाता है श्रेय मार्ग को छोड़ देते हैं श्रवण को भी छोड़ देते हैं इसलिए श्रवण के लिए प्राप्त इसे नहीं जहाँ श्रवण के लिए है वहाँ किसको तो निषेध नहीं करता है करते हैं श्रवण करने के लिए अगर कोई भी सुन सकता है तो भी जो पाप कर्म के कारण प्रतिबंधक होता है श्रद्धा नहीं हो पुण्य करने की इच्छा नहीं हो मध्य में देखते कुछ नहीं होता है ये सब विभिन्न कारण से श्रवण करने के लिए प्राप्त नहीं होता है बहुवीर श्रवणापि बहुवीर न लभ्य हम बहुत को बहुवीर अनेक ही अनेक लोग प्राप्त नहीं करते हैं चाहने पर भी नहीं कर पाते हैं कितने लोग बहुत दूर में है वो आकर के रहना श्रवण करना नहीं होता है बहुत स्थान में प्राप्त नहीं होता है बहुत स्थान है तीर्थ स्थान हो आश्रम बहुत स्थान में श्रवण के लिए प्राप्त नहीं होता है कहीं प्राप्त हो तो वहाँ जा कर के सबको रहना संभव नहीं होता है गृहस्थ लोग बहुत चाहते हैं तो भी नहीं प्राप्त श्रवण करने के लिए प्राप्त नहीं होता है पंचदश में भी कहा गया है अत्यंत बुद्धिमान वा सामग्र्या वाप्य संभवात यो विचारम न लभते ब्रह्मोपासित सोनिसम अत्यंत बुद्धिमंद हो तो श्रवण से ज्ञान प्राप्त करना कठिन है और सामग्री अभाव्य के असंभव सामग्री के अभाव हो तो सामग्री है अध्ययन की श्रवण करने के लिए आचार्य और शास्त्र ग्रंथ पहले ग्रंथ भी दुर्लभ होते थे अभी ग्रंथ पुस्तक तो बहुत सुलभ है कहीं आचार्य जिनको प्राप्त नहीं होते हैं तो फिर उपासना करें ऐसे कहा गया तो सामग्री का अभाव होने पर ऐसे यदि श्रवण करने के लिए प्राप्त नहीं होता तो उसके लिए कहा गया उपासना करे श्रवण मनन निधिध्यासन अंतरंग श्रेष्ठ साधन है मुख्य श्रवण अंगी है प्रमाण है श्रवण से ज्ञान होता है प्रमाण से ज्ञान होता है मनन निधिध्यासन प्रतिबंधक निवृत्ति के लिए असंभावना विपरीत भावना निवृत्ति के लिए अंतरंग साधन श्रेष्ठ होने पर भी श्रवण जो प्राप्त नहीं होता है तो उपासना करे कहा तो बहुत को प्राप्त नहीं पहले भी नहीं होता था अभी बहुत को प्राप्त नहीं होता है और जितने श्रवण करते अनेक ही श्रृणवंतो भी बहव अनेके अन्य यम आत्मान न विदु श्रृणवंतो भी बहुविकात के वन तो श्रवण करने के लिए प्राप्त नहीं करते सुनंत भी सुनने वाले भी जितने श्रवण करते हैं किसी प्रकार क्योंकि टिप्पणी में दिया मना कामादि वैमुख्य न श्रवण लाभे भी कामादि विमुख होने पर श्रवण प्राप्त होता है मना ईषत थोड़े समय कामना अधिक हो तो श्रवण नहीं कर सकता है थोड़े कामादि विमुख होता है तो श्रवण कर सकता है फिर भी श्रवण को प्राप्त होने पर भी दोषांतर बाहुल्यात न वेदना मरंती श्रवण तो बहवो अनेके अनेके कौन है अन्य पुरुत अधिकारी से अन्य पुरुत अधिकारी जो श्रवण नहीं कर पाते हैं जो नित्य नैमित्तिक कर्म उपासना से जिनका अंतकरण शुद्ध हो ऐसे कुछ श्रवण करते हैं अंतकोण शुद्ध होने पर श्रवण कर सकते तो श्रवण करने पर भी यम आत्मान भव अनेके न विद्यु जिनका अंतकोण शुद्ध नहीं है श्रवण मनन करने पर भी श्रवण करने पर भी ज्ञान नहीं होता है नित्य नैमित्तिक कर्म से उपासना से जिनका अंतकोण शुद्ध नहीं हुआ वो अन्य जिनका अंतकोण शुद्ध है उस श्रवण करने से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जैसे अंतकरण शुद्ध नहीं वैराग्य नहीं तो यह हम आत्मान न विद्यु न विदंती जिस आत्मा को जो आत्मा को नहीं जान सकते तुम जो आत्मा पूछते हो अभागिन अंशकृत आत्मानो न भी जाने हो अभागिन भाग्य बहुत पुण्य के बिना ऐसे भाग्य नहीं होने पर पुण्य विशेष पुण्य के बिना असंस्कृत आत्मन जिनका आत्मा का अंतकण संस्कृत शुद्ध नहीं है न भी जानी वो नहीं जान सकते हैं श्रवण करने पर भी श्रवण करते हुए साधन संपत्ति भी चाहिए अमानितम अदम्भितम महिषा आदि भगवान ने कहा यम नियम आदि समदम आदि है समदम आदि साधन श्रद्धा आदि ऐसा नहीं होने पर असद्ध बुद्धि वाले नहीं जान सकते हैं श्रणन्ते बहुवेर यह न विद्यो किंच अस्य वक्ता पे अद्भुत वदेव अनेके सुकश्चित भवति इसे आत्म तत्व के वक्ता उपदेष्टा आश्चर्यवत अद्भुत है अनेके सुकश्चित भवति प्रवचन करने वाले उपदेश करने वाले बहुत ही पढ़ाने वाले बहुत पढ़ा देंगे किसी तत्व के सम्यक निरूपण वक्ता आश्चर्यवत अनेक ऐसे कोई होता है इसी प्रकार आश्चर्य कुशल से लब्धा आश्चर्य वक्ता लब्धा भी कुशल है तथा भी अस्य आत्मन कुशल निपुण एव प्राप्त करता कोई कुशल हो युक्ति अनुभव में समर्थ हो वही साक्षात्कार करेगा कुशल का ही युक्ति में अनुभव युक्ति करे मनन करेगा फिर अनुभव करने के लिए दिध्यासन करेगा वासना हो तो श्रवण भी नहीं हो पाता है और मनन कहाँ होगा श्रवण मनन करना निधिध्यासन करना ये बिल्कुल युक्ति में भी कुशल होना चाहिए मनन करने के लिए युक्ति युक्त्या संभावित तत्वानुसंधानम युक्ति से कैसे संभव है यह अनुसंधान करना मनन है इसलिए थोड़े युक्ति तर्क शास्त्र का अध्ययन करते हैं तर्क पूर्वक मनन करना है श्रवण तो हो गया फिर कैसे संभव है उदनाचार्य बड़े नायक है बड़े भक्त है उन्होंने आत्मतत्व वे ग्रंथ लिखा है न्याय चर्चेयम ईशस्य मनन व्यपदेश भाग भगवान ये कहते ये न्याय चर्चा न्याय का जो शास्त्र चिंतन है मनन व्यपदेश मनन व्यपदेश को प्राप्त करता है मनन स्थानापन्न है उपासनैव क्रियते श्रवणानंतरागता न्याय शास्त्र का चिंतन उपासना है ईश्वर की उपासना है श्रवणानंतर आगता श्रवण के बाद ये मनन स्थानापन्न श्रवण सुना शास्त्र से किंतु कैसे संभव है अद्वितीय ब्रह्म कैसे होगा अनेक पदार्थ सब दिखते सत्य है ब्रह्म अद्वितीय कैसे होगा असम मिथ्या कैसे संभव है ये तर जब संशय रहता है तब तक कैसे मैं ब्रह्म ध्यान करेगा दृढ़ निश्चय है सब जगह सारा जगत में सत्य है और अद्वितीय ब्रह्म में ही हूँ मैं तो संसारी दुख सुख दुख भोगने वाला हूँ ये संशय निवृत्ति के लिए मनन करना पड़ता है श्रवण के बाद ही मनन करना होता है श्रवण करके जब शास्त्र तात्पर्य का शास्त्र तात्पर्य निश्चित हो गया तब जिज्ञासा होती है कैसे संभव है बहुत लोग सत्य कहते ना हमारा तो कोई संशय ही नहीं है संशय कैसे करना है ये भी मालूम नहीं तो संशय क्या होगा क्या संशय हो सकता है कैसे संशय करना है थोड़े शास्त्र को समझिए शास्त्र क्या कहता है खाली मैं ब्रह्म समझ रहा तुम ब्रह्म और क्या करना है हमको तो कोई संशय नहीं बस ना संशय है ना संशय की निवृत्ति होगी संशय हो संशय की निवृत्ति होगी संशय कैसे करना चाहिए शास्त्र में भी बताते हैं स्थूणा निकनन न्याय स्थूणा खाम खा, खांबे को गाड़ते हैं तो हिलता है तो हिलाकर देखते हिलता है तो और पत्थर देख रहे और ठोकते हैं और हिलाएंगे नहीं तो क्या कहेंगे मजबूत बिल्कुल है ऐसे लगता है मजबूत है किंतु थोड़े हवा से गिर जाएगा इसी प्रकार जो जिनको लगता हमको कोई संशय नहीं है अल्प बुद्धि वाले को संशय कैसे होगा संशय करने के लिए भी थोड़ा विचार कुशल होना चाहिए संशय होकर के संशय की निवृत्ति होता दृढ़ होता है अभी संशय नहीं है थोड़े आगे कभी फिर बुद्धि में विकास होगा तो वो संशय होगा अद्वितीय ब्रह्म कैसे जगत सत्य है अद्वितीय का तो ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं कुछ भी कैसे नहीं मैं हूँ कितने लोग बैठे हैं कि पशु पक्षी बहुत है इतने बड़े-बड़े पर्वत है आकाश में कितने नक्षत्र चंद्र है ही नहीं कैसे इसलिए उसके लिए मनन आवश्यक है जो कुशल नहीं होते मनन युक्ति में कुशल नहीं होते वो साक्षात्कार कैसे करेंगे इसलिए कुशलान कुशल से लब्धा कुशल युक्ति अनुभव में समर्थ युक्ति में समर्थ होना चाहिए और अनुभव करने के लिए उस युक्ति से मनन होने के बाद देह में हम बुद्धि देहादि में विपरीत भावना है अनादि काल से नहीं जाती है शास्त्र प्रमाण से निश्चित हो गया मनन से संभावना हो गई स्वप्न दृष्टांत से विचार करता है मिथ्या हो सकती है प्रपंच में मिथ्या तो संभव है फिर भी अहम कहते समय देह आदि उपस्थित हो जाता है शुद्ध ब्रह्म आत्मा है ये श्रवण से समझ लिया न्यायिक लोग भी जानते हैं आत्मा ज्ञान अधिकरण आत्मा अन्य प्रति देहादि से भिन्न है जानते हैं तो भी देह में अहम बुद्धि रहती जाती नहीं है इसलिए अनुभव करने के लिए निधि ध्यान करना पड़ता है निरंतर सब छोड़ कर लगने से ही प्राप्त होता है इसलिए कुशल जो है युक्ति अनुभव कुशल निपुण एव अनेकेषु अने में कोई निपुण निपुण होता है कुशल होता है लब्धा प्राप्त करने वाला निष्ठ होकर के स्वयं अनुभव कर लेता है कश्चिदेव होती कोई होता है नहीं होता है कर नहीं कहते कोई होता है देव यस्माद आश्चर्य ज्ञाता क्योंकि ज्ञाता उसका आश्चर्य है देव कुशल अनुशिष्ट कुशल न अनुशिष्ट अनुशासन उपदेश करने वाले भी कुशल निपुण आचार्य के द्वारा वही निपुण है साक्षात्कृत ब्रह्म आत्मत्वेन जो ब्रह्म को ही आत्मत्वेन साक्षात्कार कर लिया अहम अस्मि ब्रह्म उसके द्वारा आचार्य ने अनुशिष्ट सन ऐसे ज्ञानी जो जिनको साक्षात्कार हुआ ऐसे आचार्य से अनुशिष्ट उपदिष्ट होकर के ही कोई कुशल प्राप्त करता है साक्षात्कार करता है ऐसा क्यों है आश्चर्य इतने बहुत श्रवण नहीं कर पाते कोई बात नहीं किंतु श्रवण करने पर क्यों ज्ञान नहीं होता है वक्ता इसके आश्चर्य है कोई प्राप्त नहीं होते आचार्य और श्रोता भी निपुण हो तब कुशल अनुशिष्ट इसमें इतने क्यों कठिन है बहुत शास्त्र तो इसे पढ़ लेते जान लेते हैं इसमें क्या कठिनाई है पढ़ करके पढ़ा लेना कथा करना सब हो जाता है ग्रंथ लिखना भी हो जाएगा थोड़े संस्कृत तो पढ़ा तो लिखो ग्रंथ किंतु साक्षात्कार करना बड़े बहुत दुर्लभ कोई होते हैं क्यों नहीं होते हैं आगे कहते हैं न नरेण अवरेण प्रोक्त एष सुविज्ञो बहुधा चिंत्यमान अनन्य प्रोक्ते गतिरस्त्र नास्त्यणो अनियान यतर्क्यम अनुप्रमाणात अवरेण नरेण प्रुक्ते एष सुविज्ञ न भवति बहुधा चिंत्यमान न नरेण अवरेण प्रत्यय स सुविज्ञ भवति बहुधा चिंत्यमान अवरेण नरेण अवरेण निकृष्ट सामान्य कोई मनुष्य सामान्य बुद्धि वाला ज्ञानी के बिना अन्य कोई कहेगा तो ऐसा सुविज्ञ न भवति ज्ञानी केवल पहले कुशलानुशिष्ट कुशल ज्ञानी के द्वारा उपदिष्ट हो उससे भिन्न जो निकृष्ट है वह अवर निकृष्ट है निकृष्ट मनुष्य से कहने पर ऐसा सुष्टु विज्ञ न होती थोड़ा बहुत तो, समझ आ जाएगा एक अद्वितीय तत्व है प्रपंच मिथ्या ये कहते हैं किंतु ये कैसे होगा प्रपंच मिथ्या कैसे आकाश को कहते मिथ्या फिर कहते आकाश जैसे इसे नित्य है आकाशवत सर्वगतस्य नित्य एक अद्वितीय ब्रह्म है ब्रह्म नित्य है कैसे नित्य कैसे जैसे आकाश एक तरफ कहते आकाश अनित्य है आकाश की उत्पत्ति श्रुति में कहा गया आकाशवत सर्वगतस्य नित्य ब्रह्म आत्म तत्व आकाश के समान सर्वगत है आकाश के समान नित्य है आकाश तो अनित्य कहते उत्पत्ति होते तो ऐसे ही ब्रह्म होगा इसी प्रकार निश्चय नहीं होता है नष्ट सुविज्ञान सामान्य थोड़ा समझ गया कहते हैं अद्वितीय तत्व किंतु सुविज्ञान नहीं होता है बहुधा चिंत्यमान चिंतन नहीं करने से तो ज्ञान होना कठिन है बहुत चिंतन करने पर भी ऐसे ज्ञान नहीं होता है ऐसे ज्ञानी आचार्य के मुख से श्रवण करने से ही ज्ञान होगा उसके बिना नहीं हो सकता है जो अधिकारी है साधन करता है मुमुक्षुत्व है पहले तो पता नहीं चलता है कौन है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ की इसके पास जाए श्रुति कहती तद विज्ञानार्थम गुरुमेव अभिकचित समित पाणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम कैसे जानेगा किंतु अधिकार हो योग्यता आ जाए तो परमात्मा की कृपा से अवश्य ही प्राप्त हो जाएंगे तो उनके उपदेश से ज्ञान होगा अनन्य प्रत्येक गतिरत्र नास्ति अनन्यन अभिन्न आचार्य न अनन्य प्रत्येक का अलग-अलग प्रकार अर्थ करेंगे अनन्यन प्रकृते जो अद्वितीय दर्शी आचार्य ब्रह्मस्वरूप वही कहेंगे तो अत्र रत्र नास्ति बहुत प्रकार तक तो करेंगे गति का तो पहले का चिंता हे नहीं हे ये विभिन्न प्रकार जो विकल्प संकल्प संदेह है ही नहीं है अभिन्न आचार्य दर्शी आचार्य ज्ञानी गुरु के द्वारा उपदेश करने पर सब संशय दूर हो जाता है गतिरत नास्ति अनियान ही अतर्क्यम अनुप्रमाणात अनुप्रमाण से भी अनियान अनुतर है सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है अतर्क्यम तर्क का विषय नहीं है तर्क तो केवल सहायक है न्याय शास्त्र में भी तर्क कोई प्रमाण नहीं है व्यभिचार शंका का निवर्तक होता है तर्क संशय विपर्य तर्क यथार्थ अनुभव में आता है यथार्थ नहीं है अयथार्थ स्वयं तर्क यथार्थ अनुभव नहीं है अयथार्थ है संशय विपरीत तर्क तीन वैसे भेद है अयथार्थ अनुभव तो भी व्यभिचार शंका का निवर्तक है इतने मात्र के लिए तर्क धूम से वन्नी सिद्ध करते हैं अनुमान के द्वारा कोई शंका करे धूम वन्नी व्यभिचारी हो पर्वत में धूम हो वन्नी नहीं हो वन्य नहीं तो वन्य अभाव वाला विपक्ष हो जाएगा जैसे हृदय है पर्वत विपक्ष हो वन्य अभाव वाला पर्वत उसमें धूम रह जाए विपक्ष में हेतु रह जाए अर्थात धूम हेतु वन्य व्यभिचारी हो ऐसे शंका व्यभिचार शंका होने पर ये शंका की निवृत्ति तर्क से होती है धूम वन्य में कार्य कारण भाव है वन्य कारण है धूम कार्य है यदि पर्वत में वन्य नहीं होते तो धूम नहीं होना चाहिए यदि वन्य न स्यात् तो धूम अपि न स्यात् क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं होता है कोई पूछता है वन्य के बिना धूम क्यों नहीं होगा वन्य नहीं उनसे धूम क्यों नहीं तो कहते वन्य है कारण और धूम है कार्य कारण के बिना कार्य नहीं होता है फिर उसके ऊपर कोई शंका करे क्यों नहीं होगा कारण के बिना कार्य हो जाए शंका करने वाले तो शंका करेगा क्या आपत्ति कारण क्यों ना कार्य हो जाए तो उसे व्याघात तर्क देना पड़ता है यदि कारण के बिना कार्य हो जाता तुम तृप्त होने के लिए भोजन क्यों करते हो तृप्ति के लिए भोजन में प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए भोजन के बिना तृप्त हो जाओ क्षुधा निवृत्ति के लिए भोजन क्यों करते हो तो भोजन है कारण क्षुधा निवृत्ति के लिए क्षुधा निवर्तक तो कारण के बिना यदि कार्य हो जाता है तो तुम कार्य सिद्धि के लिए कारण में यत्न क्यों करते हो भोजन नहीं करो <clears throat> तब मानना पड़ेगा नहीं तो भोजन छोड़ कर रहो कारण के बिना कार्य होता है तो भोजन नहीं कर करके आराम से रहो तो फिर मानना पड़ेगा तो तर्क से व्यभिचार शंका की निवृत्ति होती है इतने लिए तर्क यहाँ भी तर्क तो है कैसे संभव है श्रवण से तो ज्ञान होगा श्रुति वाक्य प्रमाण है करण प्रमाण प्रमा यथार्थ अनुभव यथार्थ अनुभव तो प्रमाण से ही होगा प्रमाण शब्द है प्रमा का करण यथार्थ अनुभव का असाधारण कारण ध्यान जपादि प्रमाण नहीं है प्रमाण नहीं मतलब ये नहीं समझ रहा ध्यान में कोई प्रमाण नहीं जप में कोई प्रमाण नहीं साथ में ऐसा नहीं स्वयं प्रमाण नहीं प्रमाजनक नहीं है प्रमा का करण को प्रमाण कहते हैं कुठार प्रमाण है या नहीं कुठार लकड़ी काटते हैं वो तो कुठार प्रमाण है या नहीं जो तर्क पढ़ते तो जाने जो तर्क नहीं पढ़ते बताएंगे कुठार प्रमाण है या नहीं कुठार प्रमाण है या नहीं है तर्क नहीं पढ़ने वाले कोई बोलो कुठार प्रमाण है या नहीं है हुँ? हम्म? नहीं है कुठार प्रत्यक्ष दिखता है प्रत्यक्ष से कुठार का निश्चय होगा ना नहीं कुठार कुठार दिखाएंगे ये प्रमाण है नहीं, बताओ ये पुष्प प्रमाण है या नहीं प्रमाण का अर्थ जो प्रमा का जनक हो यथार्थ ज्ञान का जनक हो यथार्थ ज्ञान पुष्पक उदय से ज्ञान हो जाता है ये प्रमाण इसको नहीं कहते प्रमियत अनेन प्रमाण चक्षु प्रमाण चक्षु प्रमाण से इसका ज्ञान होता है स्वयं यह प्रमाण नहीं है चक्षु सन्निकर्ष से ज्ञान तो चक्षु प्रमाण है प्रमाण जन्य ज्ञान का विषय है प्रमाण से ज्ञान होगा ज्ञान का यह विषय है यह है इसमें प्रमाण है चक्षु यह स्वयं प्रमाण नहीं है इसी प्रकार ध्यान करने पर अंतकोण शुद्ध होता है ध्यान करने के लिए शास्त्र में कहा गया वो ठीक है किंतु वेदांत प्रमाण के बिना खाली ध्यान करते करते कोई ज्ञान को प्राप्त कर ले कभी संभव नहीं है ये बहुत लोग मालूम नहीं है सब लोग सोते हैं कि आज श्रवण करना है ध्यान करो ध्यान करने पर अंतकोण शुद्ध होगा निर्विकल्प समाधि को योग अष्टांग योग के अनुसार कोई समाधि को प्राप्त कर ले ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है ब्रह्म ज्ञान जब होगा तो प्रमाण से वेदांत प्रमाण से ही ज्ञान होगा हाँ निर्विकल्प समाधि को प्राप्त कर ले तो प्रमाण वाक्य से आदि महावाक्य करने से ज्ञान हो जाएगा किंतु स्वयं ध्यान प्रमाण नहीं ध्यान तो एक एकाग्रता करने के लिए साधन एक ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रमाण है वाक्य महावाक्य प्रमाण है बाकी जितने सब है अंतकोण शुद्धि का साधन है इसलिए प्रमाण से ज्ञान होगा श्रवण से किंतु मनन की आवश्यकता है जो असंभावना संशय की निवृत्ति में संशय का निवर्तक जैसे तर्क में व्यभिचार शंका का निवर्तक तर्क हुआ यहाँ भी तर्क से तो केवल संशय की असंभावना की निवृत्ति होगी इसलिए अतर्क है आत्म तत्व तर्क गम्य नहीं है तर्क के आधार पर केवल तर्क से निश्चय हो जाए ऐसा नहीं ज्ञान तो होगा प्रमाण से इसलिए आगे कहेंगे तर्क के आधार पर केवल तर्क से ज्ञान नहीं हो सकता है श्रुति से प्रमाण से ज्ञान होगा उसमें कोई संशय का निवृत्ति संशय की निवृत्ति करने के लिए तर्क की आवश्यकता है तर्क से संशय निवृत्ति होती है अतर्कम घातम तत्व को तर्क के द्वारा उसका निर्णय नहीं हो सकता है क्योंकि अनुप्रमाणात अनियान सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है अत्यंत सूक्ष्म है ये सूक्ष्म वस्तु है वो तर्क के आधार पर क्या निश्चय होगा तर्क से निश्चय करने के लिए व्याप्ति आदि ज्ञान चाहिए ऐसे सूक्ष्म तत्व में व्याप्ति आदि हेतु आदि कुछ सिद्ध नहीं होगा तो तर्क के आधार पर निश्चय नहीं हो सकता है नहीं नरेण भाष्य में मनुष्येण नरेण का तो मनुष्य न अवरेण निकृष्ट निकृष्ट है ज्ञानी है उपदेश करने के लिए टिप्पणी में दिया है नरिणति नरत्वक्त्या न प्रवचने नारी प्रसंग इति अवधेयम टिप्पणी में न नरेण अवरेण प्रक्त नरेण कहने से न प्रवचन है नारी प्रसंग उपदेश करने के लिए ज्ञान प्राप्त करने के सब का अधिकार है उपदेश करने के लिए अधिकार नहीं है ऐसे नारी को टिप्पणी में दिया निकृष्ट प्रोक्त अवरण का तो हीन है ना अवर शब्द का तो हीन हीन का था प्राकृत बुद्धि ना प्रकृति तो आगते सु देह में अभिमान जिसका है प्राकृता बुद्धि रस्य देहादि में अभिमान वाले ऐसे जो अज्ञानी उसके द्वारा ये तद उक्ते ऐसे उपदेश करने पर आत्मा का ज्ञान हो नहीं सकता है स्वयं जो ज्ञानी नहीं है वो उपदेश करेगा उसे ज्ञान होगा ऐसा कभी संभव नहीं है जो आत्मा तुम पूछते हो यम तो हम पृच्छति जिसको तुम पूछते हो जानना चाहते हो ऐसे निकृष्ट व्यक्ति के उपदेश से ज्ञान हो नहीं सकता है स्वयं जिसको ज्ञान नहीं हुआ उपदेश सम्यक नहीं कर सकता है कुछ कहता है अंदर उसको विश्वास नहीं है वो उसकी वाणी में शक्ति से नहीं होती है नहीं सुष्टु सुविज्ञेय सृष्टि सम्यक विज्ञो नहीं होती विज्ञान तो न सक्य ये सृष्टि सुविज्ञान नहीं ता सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता है थोड़े बहुत उसके विषय में होता है कुछ सुनते कहते आत्मतत्व किंतु सुविज्ञान सुष्टु विज्ञान यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता है बहुधा चिंत्यमान लोग इसके पर बहुत प्रकार कहते हैं आत्म तत्व के विषय में अस्ति नास्ति कर्ता अकर्ता शुद्ध अशुद्ध इत्यादि अनेकथा चिंत्यमान व्याधि भी आत्म तत्व है आस्तिक लोग तो मानते हैं नास्तिक कहते कोई आत्मा है नहीं चार भाग है कोई है नहीं बौद्ध लोग कहते कि आत्मा क्या है जो बुद्धि है वही बुद्धि है बुद्धि से क्या आत्मा तत्व है कोई तो कहते शून्य है तुच्छ है कुछ है ही नहीं नास्तिक कोई कहते कर्ता कहते आत्म तत्व कर्ता तार्किक लोग मानते कर्ता आत्मा ही करता है और सांख्य लोग कहीं आत्मा तत्व करता नहीं अकर्ता है वेदांत में कहा अकर्ता है आत्मा में यदि कर्तृत्व वास्तव मानेंगे कर्तृत्व भूत्व तो रहेगा कर्ता होता होगा तो मुक्ति ही नहीं हो सकती कर्तृत्व भूत्व तो कर्म करेगा कर्तृत्व आएगा कर्म फल वो करेगा यदि वास्तव है उसका स्वभाव उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती है अग्नि का स्वभाव उष्ण स्वभाव है हाँ अग्नि बुझ गए अग्नि को नष्ट कर दिया तो अलग बात है अग्नि रहे और उसका स्वभाव नष्ट हो जाए ऐसा नहीं हो सकता है जीव यदि कर्ता भोक्ता है वास्तव तो कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो नष्ट नहीं होगा तो मोक्ष कैसे होगा आत्मा कर्त्रादि रूपश्चेन माकांक्षिस्तरि मुक्तता नहीं स्वभाव भावानाम व्यावर्ते बद्रवे आत्मा यदि कर्ता भोक्ता है तो मुक्ति की इच्छा नहीं करो संभव नहीं है मुक्ति क्यों यदि उसका स्वभाव है उसका स्वभाव की निवृत्ति कैसे होगी नहीं भावानाम स्वभाव है तो उष्णवत रवे रवि सूर्य में जैसे उष्ण है उष्णता है उसकी निवृत्ति नहीं होती कभी इसी प्रकार आत्मा में यदि कर्तृत्व भूत वास्तव होगा उसकी निवृत्ति नहीं होगी किंतु कुछ लोग मानते ये करता है तर्क शास्त्र में न्याय में भी आत्मा को कर्ता मानते हैं ज्ञाता मानते हैं किंतु सांख्य में कहते अकर्ता है वेदांत में कहते आत्मा करता नहीं है शुद्ध है आत्म तत्व सांख्य में वेदांत में अशुद्ध होता कोई उसमें गुण धर्म नहीं है निर्गुण है साखी चेता केवल निर्गुणस्य और कोई कहते अशुद्ध उसमें बुद्धि सुख दुख इच्छा सब आत्मा में उत्पन्न होता है तर्क करने वाले न्याय कवि कहते हैं आत्मा में सुख दुख उत्पन्न होता है अशुद्ध है इत्यादि अनेक चिंत्यमान वादी लोग अनेक प्रकार कहते हैं इसलिए श्रवण करने के बाद भी और बहुत सुन करके इसे आचार्य से श्रवण कर दे तो भी चिंतन करने पर भी ज्ञान नहीं होता है फिर कथम पुनः सुविज्ञा इति इति उच्यते यदि सुविज्ञा नहीं होता है अवर्ण प्रकृति तो फिर कैसे सुविज्ञा होगा सम्य ज्ञान होने पर ही मोक्ष होगा संशय तो ज्ञान से नहीं है संशय विपर रहित तो ज्ञान सुविज्ञा फिर कैसे होगा अनन्य पुक्ते गतिरस्त्र नास्ति अनन्य पुक्ते का अर्थ करते अनन्येन पुक्ते अनन्य पुक्ते अन्यन का तो न अन्य अनन्य अन्य होता है ज्ञानी से भिन्न को अन्य अनन्य का तो ज्ञानी अपृथक दर्शन आचार्यन जो पृथकदर्शी नहीं है भेददर्शी नहीं है दर्शी अज्ञान से भेद ज्ञान होता है भेद बुद्धि जो ज्ञान हो जाता है तो पृथक दर्शन पृथक दर्शी सर्वम इदम अहम च ब्रह्मेव सारे कुछ ब्रह्मांड जितने हैं मैं एक ही तत्व ब्रह्म में हूँ ऐसे अपृथक दर्शन न अनन्य का क्या है जो ब्रह्म से भिन्न नहीं है ब्रह्म स्वरूप है क्योंकि ज्ञानी ब्रह्मवेद ब्रह्मेव भवति प्रतिपाद्य ब्रह्मात्म न अनन्य कहते क्या वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्मा स्वरूप है ब्रह्म है आत्मभूत इससे ब्रह्म ही जिसका स्वरूप है ब्रह्म स्वरूप ज्ञानी के द्वारा उसके द्वारा कहने पर अपृथदर्शी ज्ञानी जो गुरु आचार्य ब्रह्म से अभिन्न है अनन्यन प्रोक्ते उक्ते गतिरस्त्र नास्ति आत्मनि गतिरी अनेकधा अस्ति नास्ति इत्यादि ये लक्षणा चिंता गतिरत नास्ति पहला अर्थ करते गति का अर्थ चिंता ऐसे अद्वैत अभेददर्शी ज्ञानी गुरु के द्वारा उपदिष्ट होने पर ये संशय नष्ट हो जाता है आत्मा है नहीं है करता है भुगता है अनेक जो चिंतन करते अस्ति नास्ति इत्यादि ऐसे चिंता नहीं है समाप्त हो जाती है संशय नहीं होता है सब संशय निवृत्त होता है ऐसे ज्ञानी गुरु के उपदेश से चिंता गति अत्र अस्मिन नास्ति अत्र का तस्मिन तो आत्मनि आत्मा में ये चिंता है अति नास्ति कर्ता होता ये संशय नहीं है सब संशय नष्ट हो जाता है नास्ति ना विद्यते क्योंकि सर्व विकल्प गति प्रत्यस्तमितत्वाद आत्मनाम आत्मा तो सारे विकल्प की चिंता से रहित है विकल्प गति प्रत्यस्तमितत्वात् विकल्प गति अभावत्व विकल्प गति है ही नहीं कोई विकल्प का संशय का स्थल ही नहीं आत्मा शुद्ध है अद्वितीय सिद्ध स्वरूप है उसको कुछ करने का नहीं है अज्ञान के कारण संशय होता है ऐसे ज्ञानी गुरु से उपदेश श्रवण करने पर संशय निवृत्त होता है ये अनन्य प्रत्येक गतिरस्त्र नास्ति एक अर्थ किया गया अनन्य प्रोक्त क्या था कर दिया ज्ञानी गुरु के द्वारा प्रतिपादे ब्रह्म अभिन गुरु के द्वारा उपदेश होने पर गति चिंता नहीं है अस्ति नास्ति इत्यादि अनेक प्रकार चिंता नहीं संशय दूर हो जाता है दूसरा अर्थ करते अथवा स्वात्मभूते अनन्यस्मिन् आत्मनि प्रोक्ते अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र अन्यावगति नास्ति ज्ञेय अन्य स्वभावात् भूते अनन्यस्मिन् अनन्य प्रत्यय में क्या पहला अनन्यन प्रत्यय अनन्य प्रत्यय तृतीय अनन्यन प्रत्यय अब यहाँ कहते अनन्यस्मिन प्रत्यय अनन्यस्मिन आत्मनि सप्तमी अनन्यस्मिन आत्मनि आत्म आत्मस्वरूप में अनन्यस्मिन आत्मनि प्रत्यय अनन्य प्रत्यय अभिन्न आत्मा में अन्यस्मिन आत्मनि जो आत्मा है अन्य नहीं है आचार्य ब्रह्म से भिन्न नहीं है अनन्य सुमन आत्मनि अभिन्न आत्मा में उपदेश करने पर अनन्य प्रते गतिरत नास्ति जो आत्मा अन्य नहीं है अनन्य है अभिन्न है ब्रह्म ही आत्मा है ब्रह्म से भिन्न नहीं आत्मा वही एक तत्व है वो उसमें जो उपदेश किया जाता है तद विषय में गतिरत्र का अर्थ अन्य गति का अर्थ ज्ञान ज्ञान गमन प्राप्ति गम धातु जितने गमनार्थक धातु है सबका अर्थ गमन ज्ञान ज्ञान गमन प्राप्ति तो गति का अर्थ अवगति नास्ति और कुछ ज्ञान नहीं है अनन्य अभिन्न आत्मा का उपदेश श्रवण करने के बाद आत्मज्ञान हो गया तो और कुछ रत्न नास्ति और कोई ज्ञान नहीं है क्योंकि ज्ञेय से अन्य स्वभावात आत्मा से भिन्न कोई ज्ञेय है ही नहीं सर्वम कलिदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन ज्ञेय कुछ नहीं ज्ञेय तो एक आत्मा ब्रह्म ही है उसका ज्ञान अब, हो जाने पर तो उसके विषय में उपदेश सुनने पर और कोई गति ज्ञान है ही नहीं ज्ञानस्य हेसा पराकाष्ठा यद आत्मिकत्व विज्ञान ज्ञान की पराकाष्ठा है पराकाष्ठा अवधि सीमा यही है ज्ञान बहुत जानते जानते जानते जानते सबसे श्रेष्ठ अंतिम ज्ञान यही है आगे कुछ ज्ञान का विषय नहीं रहता है यद आत्मिकत्व विज्ञानम आत्मा के साथ ब्रह्म की एकता एक अद्वितीय आत्मा ही मैं हूँ और कुछ है ही नहीं यही ज्ञान ही पराकाष्ठा जिसको पराविद्या कही गई मुंडक उपनिषद में दो विभाग करके पराविद्या अपरा अपरा विद्या में सारे शास्त्र वेद वेदांग सारे दर्शन सब आ जाएंगे किंतु परा विद्या है के सा परा यह तद अक्षरम अधिगम्यते ब्रह्म ज्ञाने है परा विद्या वही परा विद्या है ज्ञान में श्रेष्ठ पराकाष्ठा है वो ज्ञान हो जाने पर और कुछ नहीं जानने का पराकाष्ठा यदात्मिकत्व विज्ञान ब्रह्मात्मा है अद्वितीय तत्व है ब्रह्म आत्मा ये जगत को सब का अधिष्ठान एक तत्व है वही सो हम अस्मि ऐसे ज्ञान उसको जान लेने के बाद ब्रह्म से बिना कुछ नहीं ज्ञेय पदार्थ कुछ नहीं रहा अतो अवगंतव्य अभावात न गत्रत्र अवशिष्यते अवगंतव्य ज्ञेय पदार्थ कुछ रहा नहीं है सब कुछ आत्मा में अध्यस्त है स्वप्न प्रपंच जिस प्रकार आप में आरोपित अध्यस्त है जाकने हुआ देखा स्वप्न प्रपंच कुछ नहीं है इसी प्रकार अभी आपके स्वरूप में अभी आपके स्वरूप कहते तो समय आपका शरीर लगता है ये शरीर भी स्वप्न शरीर के समान है स्वप्न दिखते समय आपका के शरीर बनता है जागने के बाद वो शरीर नहीं रहता है ये शरीर अलग है स्वप्न में के कल्पित शरीर जिसे आप व्यवहार करते हैं उस समय उसमें अहम बुद्धि होती है जगने के बाद वो शरीर भी नहीं है ये वास्तव स्वरूप अभी जो शरीर है इसी प्रकार जो अभी शरीर आपका ये वास्तव स्वरूप नहीं है सपने में जैसे कल्पित सर अभी ये कल्पित सर है आपका वास्तव स्वरूप ज्ञान हो जाने पर सारे जगत मिथ्या ये शरीर भी मिथ्या है सारे जगत शरीर सब का दृग रूप चेतन अधिष्ठान ज्ञान रहता है स्वप्न से जगने के बाद जैसे केवल स्वप्न दृष्टा रहता है स्वप्न में दृश्य अपना शरीर भी नहीं रहता है इसी प्रकार ये सारे प्रपंच का दृग रूप चेतन चैतन्य दृष्टा वही आपका वास्तव स्वरूप वर्तमान जो शरीर है वो, वो नहीं है और कुछ भी नहीं गया एक ही तत्व है गेय पदार्थ कुछ नहीं रहा आपसे बिना आपका देह आदि भी गेय है वो भी नहीं है अत्र रत्न न अवशिष्यते कोई ज्ञान नहीं है ये द्वितीय व्याख्या हो गई तृतीय कहते अनन्य प्रत्यय रस्ते नास्ति गति का तो संसार रे अत्र नास्ति संसार प्राप्ति नहीं है ऐसे है आत्म आचार्य से श्रवण करने के बाद संसार प्राप्ति नहीं होती है अर्थात अवश्य ही ज्ञान हो जाएगा यदि विधिवत श्रद्धा पूर्वक शास्त्र श्रवण करें ऐसे अभेददर्श आचार्य के उपदेश से अवश्य ही ज्ञान होता है नास्ति अनन्य आत्मनि प्रोक्ते अत्र अनन्य आत्मनि प्रोक्ते अनन्य आत्मनि अभिन्न में अनन्य आत्मनि अभिन्न में प्रोक्ते उपदेश करने पर एक ही आत्म तत्व तो उसमें आचार्य उपदेश करने पर और आगे संसार गति नास्ति संसार नहीं मतलब मोक्ष मुक्ति हो जाती है नान्तरेकत्वा तद विज्ञान फल से मोक्ष से ज्ञान हो जाता है ज्ञान होने से ज्ञान का फल मोक्ष अनांतरिक अवश्य भावी है अवश्य ही मोक्ष होता है इसलिए के संसार प्राप्ति नहीं है ये कितने कौन सी व्याख्या हो गई हम हम्म? दूसरी तृतीय संसार गति बात नाते पहले तो ज्ञेय गति नहीं तृतीय संसार गति नहीं आगे चतुर्थ अथवा प्रोच्यमान ब्रह्मात्म भूतेन आचार्यन प्रुक्ते आत्मनि अगतिर अनन्य प्रोक्तेर गतिरत्र नास्ति अनन्य प्रुक्ते के आगे अवग्रह रख दो क्या निकलेगा अगति अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति यहाँ अगत विच्छेदन निकालते ऐसा भी अर्थ हो सकता है अनन्य प्रुक्ते अनन्य क्या है पृच्यमान ब्रह्मात्म भूत है ना आचार्य ना पृच्यमान जो ब्रह्मात्म भूत जो शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य जो पहले अर्थ क्या पृच्यमान है ब्रह्म ब्रह्म स्वरूप आचार्य है ना जो ज्ञानी आचार्य हो ब्रह्म स्वरूप है प्रतिपाद्य ब्रह्म है पृच्यमान है कहा जाता है जो प्रतिपाद्य ब्रह्म ब्रह्म है आत्मभूत जैसे ब्रह्म ही जिसका स्वरूप ऐसा आचार्य ज्ञानी है ब्रह्म से अभिन्न है अनन्यन प्रत्यय से अभिन्न आचार्य ने प्रत्यय आत्मनि अगतिर नास्ति अगति का तो अनवबोध अपरिज्ञान मत नास्ति अज्ञान नहीं रहता है अज्ञान नहीं रहेगा ऐसे ज्ञानी गुरु के द्वारा उपदेश होने पर श्रवण करने पर अज्ञान नहीं रहेगा अवश्य ही ज्ञान हो जाएगा अपरिज्ञान मत नास्ति अगति नास्ति अज्ञान नहीं अवश्य ज्ञान होगा भवत्येव अवगतिर तद विषया श्रोतुस तदस्मि अहम इति आचार्य से इव अवगति ज्ञान हो ही जाएगा तद विषया ब्रह्म विषय ज्ञान अहम ब्रह्म कस्य श्रोतु श्रोता को कैसे ज्ञान होगा तद अस्मि अहम इति तद ब्रह्म अहम ब्रह्म अहम ऐसे ज्ञान आचार्य से इव जैसे आचार्य को ज्ञान है अहम ब्रह्म ऐसे ही शिष्य को ज्ञान अवश्य हो जाएगा अगत्य नहीं है ये कितने प्रकार हुआ चार ये समय यही है आचार्य ज्ञानी गुरु से उपदेश श्रवण करने पर ज्ञान हो जाएगा ज्ञान होने पर अन्य कुछ ज्ञेय पदार्थ नहीं है ज्ञान नहीं होगा ये बात नहीं अवश्य होगा अधिकारी हो तो अधिकारी न प्रमिति जन को वेद वेद से प्रमाण से ज्ञान होगा अवश्य ज्ञान होगा श्रवण करने के लिए विधिवत श्रवण साधन चतुर्थ संपन्न होकर के श्रद्धा आदि पूर्वक होकर के और ये निश्चय रहे ज्ञान प्राप्त करना ही है और कुछ नहीं चाहिए तो अवश्य ज्ञान होगा वासना हो तो नहीं होगा कुछ मन में इच्छा संकल्प रखकर बैठे नहीं होगा पूरा समर्पण एवं सुविज्ञ आत्मा आचार्यन अनन्यतया प्रोक्ते आत्मा सुविज्ञ इसी प्रकार होगा या एवं इस प्रकार होगा सुविज्ञ कैसे आगमवत आचार्यन आगम प्रमाण वाले आगम प्रमाण से जो उपदेश करते हैं आगमवत आचार्यन अनन्यतया प्रोक्ते अभिन्नत्वेन भेद रूप से कहने पर ज्ञान नहीं होगा क्योंकि भेद तो कल्पित है कल्पित धर्म को लेकर उपदेश करेंगे तो कल्पित धर्म से ज्ञान होगा कल्पित धर्म विशिष्ट जो ज्ञान होगा वास्तव ज्ञान नहीं है इसलिए आगम प्रमाण से अभिन्न आचार्य जो ज्ञानी उनके द्वारा अनन्यतय अभिन्नत्वेन कहने पर सभी ज्ञान होता है नहीं तो क्या होगा अनियान यतर्क्यम अनुप्रमाणात अनुप्रमाण से भी अनुतर है आत्म तत्व और सूक्ष्म और सूक्ष्म है इतरता ही अनियान अनुप्रमाणादपि संपद्यते आत्मा सूक्ष्म सूक्ष्मतरम अन्यत्र कहा गया अनुरणियान अणु से भी अनुतर वो अणुरणियान सुन करके कोई कहता आत्मा अनुप्रमाण है परमाणु जैसे छोटा है गीता में कहा गया यथा सर्वगतम आद आकाशम नोपलिप्यते सर्वगत आकाश को सूक्ष्म कहा आकाश सर्वगत परमत्व तो परिमाण अणुपरिमाण उसका है सूक्ष्म शब्द से कहन से अणु नहीं रणिया सूक्ष्म है इंद्र का विषय नहीं कोई गुण नहीं जहाँ अणुरणियान कहा गया उसके साथ महत्वमयान भी कहा गया किंतु जिनका दुराग्रह है आत्मा को अणु कहने के लिए महत्वमयान को छोड़ देंगे कहेंगे यानी इतने लाकर दिखाएंगे एष अणुरात्म अनुरात्मा चेतसा विदितव्य कुछ कुछ अंश लिखा दिखा देंगे देखो आत्मा को अणु कहा गया ये अणुयान का तो अणु प्रमाण से अनुतर अत्यंत सूक्ष्म सूक्ष्म होने से तर्क के द्वारा इंद्रिय के द्वारा ज्ञान नहीं होता है तर्क के द्वारा नहीं होगा अतर्क्यम अतर्क्य आत्मा स्वबुद्धिया अभिवन केवल तर्केण अपने स्वबुद्धिया स्वाधीन बुद्धि गुरु आदि उपदेश के बिना संस्कार रहित तो अपने बुद्धि से आरोप करके कोई कल्पना कर ले नहीं ज्ञान नहीं हो सकता है स्वबुद्धिया अभिवन केवल तर्केण आचार्य उपदेश श्रवण करें उपदेश संस्कृत बुद्धि हो तीक्ष्ण बुद्धि हो फिर तर्क के आधार पर संशय दूर करे ये तो ठीक है किंतु और केवल न ने का था गुरु आदि उपदेश के बिना केवल तर्क से अपने बुद्धि से कल्पना करना ऐसे ही बुद्धि से केवल तर्क से कल्पना से इसका ज्ञान नहीं हो सकता है तर्क माने अनुपरिमाणे केनचित स्थापित आत्मनि ततो ह्यणुत्तरम अन्यो अभ्युयति ततोप्यन्यु अनुत्तमम इति नहीं कुतर्क से निष्ठा क्वचि विद्यते कुतर्क की निष्ठा कहीं नहीं है तर्क करके अनुपरिमाण सूक्ष्म परिमाण को स्थापना कर दिया अत्यंत सूक्ष्म है फिर कोई आ गया करके कहता है नहीं और सूक्ष्म है अनुतरम अन्य कल्पना करता है उससे और कोई आ गया कहेगा अनुतम और सूक्ष्म है जिस प्रकार परमाणु के विषय में अणु परमाणु कहते हैं वैज्ञानिक लोग गवेषणा करते कहते उसका भी अंश है उसका भी अंश है नाम अलग अलग देते आते उसका भी अंश उसका भी अंश तार्किक लोग को मालूम है कोई वस्तु पदार्थ है तो उसका टुकड़ा करते हैं एक टुकड़ा दो भाग करेंगे तो भाग हो जाएगा उसका भी भाग करेंगे तो भाग हो जाएगा ऐसे कितने भाग हो सकता है बहुत विचार के साथ सत्र तक विचार करने के बाद अरे ऐसे चलता रहेगा कहीं ना कहीं विश्राम करना पड़ेगा इसलिए बता देते जो सूर्य किरण आने पर जो दिखता है कहते इसको त्रियाणु को कहते हैं उसको तीन भाग करते एक भाग का नाम होगा द्विअणु को और एक द्विअणु को दो भाग करते उसका नाम परमाणु वो जानते बहुत दूर तक चलेगा उसका टुकड़ा उसका अंश उसका अंश उसका अंश सावय पदार्थ सावय पदार्थ तो उसका अवयव रहेगा उसका फिर अवयव तो कहते अंत में जाकर कहीं न कहीं रोकना पड़ेगा नहीं तो अनवस्था दोष है नए और युक्ति देते हैं नहीं तो मेरु पर्वत और सरसप सरस दाना दोनों बराबर हो जाएगा सरसप का अवयव मेरु पर्वत का अवयव एक नहीं किसका कम किसका ज्यादा यदि किसका कम अवयव है तो अवयव सीमित हो गया सीमित हो गया मतलब अवयव धारा की विश्रांति उसके अवयव उसके अवयव उसके अवयव से विचार करते करते कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा तभी तो कम होगा अनंत अवयव यदि हो जाएगा दो अनंत मेरु पर्वत का अवयव अनंत है अरे के श्यामा का चौल सर सब उसका भी अनंत अवयव है तो बड़ा कौन होगा छोटा कौन होगा अनंत अवयव होगा तो बड़ा छोटा होगा बड़ा छोटा होने के लिए अवयव का न्यूनता अवयव की न्यूनता होनी चाहिए तो कहते जो जहाँ विश्राम करे जिसका और कोई अवयव नहीं होगा उसको हम परमाणु कहते हैं तार्किक लोग बताते हैं इसलिए तो अणु परमाणु को स्थापना किया और कोई विद्वान तर्क करने वाला और छोटा कहेगा और के और छोटा कहेगा ये कुतर्क की प्रतिष्ठा नहीं निष्ठा नहीं है कोई कुतर्क करके स्थापना कर दिया फिर कोई आकर तार्किक और कुछ कहेगा इसे अतर्क्य कहा गया तर्क से निश्चय नहीं होता है ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु